उनके जाने के बाद अब्दुल्ला सोचने लगा कि कुरान के मुताले के लिए तारीख और जोग्राफिया कितना ज़रूरी है और दाई के लिए लाजिम है कि उसका दिल वसी हो वो सोच रहा था कि अगर वो सिर्फ कुत्ते या शराब को देखकर उन्हें घर में आने से मना कर देता तो ये गुफ्तगु ना हो पाती तीन घंटे की बात में ना उन्हें टाइम मिला कि क्लब जा सके ना ही अब्दुल्ला को ऑफर कर सके अब्दुल्ला सोचने लगा जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए उसकी आंखों में नमी थी उसका शायद कुछ ना कुछ असर तो मेहमानों के दिलों पर भी पड़ा होगा या शायद उसके अपने ही दिल पर पड़ा हो शायद वो भी कभी अच्छा उम्मती बन सके वो सोचने लगा कि कलमा और कलमा तयबा में बड़ा फर्क है और किसी भी कलमे में तयबा का अंसर नहीं आता जब तक इंसान का दिल उस काम की फिक्र में ना लगे दावत में बाजुकात तस्कीर किसी गाफिल शक्की और मदहोश दिल से टकरा कर वापिस आ जाती है और अंदर घुसने की राह नहीं पाती इसलिए जरूरी है कि गफलत तो कसावत और शक के असबाब दूर किए जाएं ताकि दिल पर कुछ असर हो वो सोचने लगा कि दाई के लिए चार चीजें जरूरी हैं नंबर एक इंसान और इंसानियत से वाकफियत नंबर दो जबान पर महारत नंबर तीन दर्द मंदी नंबर चार दिल का जिक्र दुनिया में एक चौथाई मुसलमान हैं यानी चार में से एक ये पचहत्तर फीसद बाकी लोग थक गए हैं इस्लाम के बारे में सुनते सुनते ये अब इस्लाम को देखना चाहते हैं महसूस करना चाहते हैं जब किसी स्कूल में 150 बच्चों को जिबा कर दिया जाए और मास्टरमाइंड का नाम सी एन एन पर फजल उल्ला जाहिर हो जब कीनिया की यूनिवर्सिटी में एक सौ क्रिश्चियन तालब इलमों को गोलियों से भून दिया जाए और मास्टरमाइंड का नाम मोहम्मद महमूद हो तो आखिर दुनिया ने भी क्या कसूर किया है कि वो हमें बुरा ना समझे इस दुनिया में इस्लाम की तबलीग जबान से कैसे हो सकती है इस्लाम की तबलीग आज कल के दौर में बातों से नहीं होगी महज अकल महज जहानत महज फन खताबत फन तहरीर बातों को पेश करने के लिए तरीके और दुआ कलमात काफी नहीं होंगे ये अल्फाज की चनाव का नहीं दिलों की चनाव रूहों के संगार का मौसम है ये मौसम है अल्लाह सुबहान तला की हैरत में डूबने का ये वक्त है इससे मांगने का आहोजारी का गिरिया का उन दिलों का जिनसे निकलने वाली दुआ वक्त का धारा मोड़ देती है जमाने की कलाई पकड़ लेती है ये वक्त तादाद का नहीं इस्ताद का है ये वक्त कुछ करने का है सिर्फ अबाव इजाद के कारनामों पर फकर से कुछ नहीं होगा जो हजरत या पीर मैट्रिक के इम्तिहान में पास ना करा सके कि आप जाएं और कहें कि सवालात के जवाब तो नहीं आते मगर मैं फला फला को जानता हूँ वो कबर के इम्तिहान में क्या खाक पास कराएंगे ये वक्त है खुद से कुछ करने का अल्लाह से मांगने का सबर के जो मायने हम अमूमी तौर पर पेश करते हैं ये वक्त उस सबर का नहीं है वैसे भी सबर बड़ा मजलूम लफ्ज है अल्फाज के मायने कभी वसी हो जाते हैं और कभी महदूद और हमने सबर को शिकायत ना करने तक महदूद कर दिया है अरबी में सबर जम जाने को मुकाबला करने को और अपने असूलों पर कायम रहने को कहते हैं भले कुछ हो जाए अब्दुल्ला सोचने लगा कि काश बदर के 313 में से आज कोई सहाबी आ जाए तो पूरी दुनिया के लिए काफी हो जाए अब्दुल्ला इसी तरह अपना अल्लाह साईं से बातें करते करते सो गया अब्दुल्ला नई कंपनी की मसरूफियात में फिर से मसरूफ हो गया मगर एक तहिया दिल में कर लिया कि इस्लाम के बारे में लिखेगा जरूर और जो भी फारिग वक्त मिला उसमें इस्लाम पर उठाए जाने वाले एतराज़ात का मुताला करके उनकी फहरिस्त ज़रूर बना लेगा कि शायद कभी कोई इनका जवाब लिख सके कंपनी के शुरू के दिनों ही में तीन बड़े क्लाइंट्स मिल गए एक हेल्थ केयर का दूसरा एजुकेशन का और तीसरा रॉयल स्टेट का अब्दुल्ला दिन रात डेटा साइंसेस की किताबें पढ़ता रहता वो एक वक्त में एक ही काम को अच्छे तरीके से करने का आदि था हल्के हल्के इसने कराची लाहौर और इस्लामाबाद में भी प्रोग्रामर्स की एक अच्छी टीम तैयार कर ली थी यूं तो वो टीम से बहुत खुश था मगर उसे हमेशा शिकायत रहती कि ये बच्चे जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना नहीं करते मैं ऐसा क्या करूं कि ये अपने आप से कम्पीट करने लग जाएं? ये बगैर किसी सुपरवाइजर के अपना वक्त और काम को मुतिन कर सके अगर ये बाकी लोगों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं तो मिसाल जैसा काम भी तो करें ये आगे बढ़कर क्यों सवाल नहीं पूछते फील्ड में माने जाने वाली हकीकतों को चैलेंज क्यों नहीं करते अब्दुल्ला सोच रहा था वो टीम के प्रोग्रामर्स को दो तो माह के लिए किसी और मुल्क ले जाए और वहां दिन रात लगाकर सॉफ्टवेयर का पहला विजन भी बना ले और इन्हें कुछ सिखा भी दे वो चाहता था कि इन दो महीनों में वो अपने जैसे बारह पंद्रह अब्दुल्ला तैयार कर ले अब्दुल्ला कहा करता था कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस की शाह वली उल्ला है और अगर किसी को कामयाब इंटरप्रेन्योर बनना है तो इसे शाह वली उल्लाह की हजत उल्ला बालगा जरूर पढ़नी चाहिए आज वो सुबह से अपने कमरे में बड़े साइज के व्हाइट बोर्ड के सामने बैठा अपने आने वाली प्रोडक्ट्स का खाका तैयार कर रहा था वो सोच रहा था कि स्टार्टअप भी एक खाली सफेद बोर्ड होता है आपको सिर्फ एक बात मालूम होनी चाहिए और वो है कि आपको कुछ नहीं मालूम इस पूरे सफेद बोर्ड के दरमियान एक काला नुकता आपका आइडिया होता है आपने यहाँ से हर चीज का खोज लगाना होता है और ढूंढना होता है कि कब कहाँ जाकर किससे क्या सीखना है आपने हर बात मालूम करनी होती है मार्केटिंग से लेकर फंडिंग तक टेक्नोलॉजी से लेकर कि आपने किसको हायर करना है टैक्स से लेकर कानूनी पचीदगियों तक और पार्टनर से लेकर आपके कंपटीटर्स तक इस पूरे अमल में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं कुछ ठीक हो सकती हैं कुछ नहीं मगर ये सब चलता है आप इस सफायद बोर्ड में सारे खाने भरते चले जाते हैं और फिर इन्हें अपनी बेहतरीन सलाहियतों बेहतरीन काविश बेहतरीन वक्त बेहतरीन टीम और बेहतरीन दिमाग देती हैं और आखिर में आपके पास दो में से एक चीज बचती है या तो एक स्टोरी जो आप दुनिया को सुना सकें या एक प्रोडक्ट जो आप दुनिया को बेच सकें रिजल्ट ख्वाब कुछ ही निकले आप तरक्की जरूर करते हैं इसने सोचा ऐसी कौन सी प्रोडक्ट बनाई जाए जिससे इंसान का भला हो ये सोचते ही इसने कुरान पाक उठाया और इसी सोच के साथ वो पढ़ता चला गया कुरान में इंसान की कौन कौन सी खामियों का जिक्र है मसलन वो जल्दबाज है क्या उसे इम्पल्स शॉपिंग पर उभारा जा सकता है कौन कौन सी खूबियां हैं कौन सी बातों को कुरान ने जिक्र किया है कुरान पाक मुकम्मल हुआ तो अहादीस की बारी आई फिर हजरतुल्ला बालगा और फिर मुफ्ती साहब के ऑनलाइन बयान कोई महीने भर के रत जगह के बाद अब्दुल्ला अपने आने वाली प्रोडक्ट का रोड मैप बना चुका था इसने बकायदा प्लानिंग की कि अब अगले 18 माह में किस तरह कब और कैसे अपनी टीम को इस बारे में बताएगा आजकल की नस्ल को इस्लाम से अपने आईफोन जितनी भी मुनासबत नहीं वो डरता था कि अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन के पीछे छुपी वजूहत का जिक्र करेगा तो या तो टीम छोड़कर भाग जाएगी या नौकरी से निकाला जाएगा अब्दुल्ला शबो रोज की लगातार मेहनत से थक चुका था पूरे माह में इसकी रोजाना दो घंटे की भी नींद औसतन नहीं हुई थी ऊपर से जिक्र के लिए भी कोई खातिर खा टाइम ना निकाल सका था वो तो नमाज में पढ़ी जाने वाली आयत के बारे में भी सोचता रहता कि किस आयत से कौन सी प्रोग्रामिंग की असलाह निकलेगी यूं तो ये अजीब बात लगती है मगर कुरान का मुखातिब भी इंसान है और अब्दुल्ला का सॉफ्टवेयर भी इंसान ही को टारगेट करता है तो वो सोचता कि जरूर वो बहुत कुछ सीख सकता है अब्दुल्ला ने तीन दिन तक कुछ न करने का फैसला किया वो जब भी एक काम से उकता जाता तो वो ब्रेक जरूर लेता था चाहे वो दुनिया का काम हो या दीन का अब्दुल्ला ने आज काफी दिनों बाद मुफ्ती साहब को फोन लगाया जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप बस कुछ नहीं आपकी आवाज सुननी थी नए मुल्क और कंपनी के खैर खरीद के बाद मुफ्ती साहब गोया हुए अब्दुल्ला आपसे तीन चीजें मतलूब हैं एक तो अल्लाह का जिक्र उसमें कुताही ना करें दूसरा ये कि लिखें जरूर लिखा करें अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है वो जब चाहे वापिस छीन सकता है तो जब तक है लिखें और जरूर लिखें और तीसरा ये कि अपने आप को लोगों की नजर और हसद से बचाएं कैसे बचाएं ये हम आपसे फिर कभी तफसील से जिक्र करेंगे अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह हाफिज अब्दुल्लाह कोल खत्म होने पर काफी देर सोचता रहा कि वो क्या करे कि जिक्र के लिए वक्त निकल सके डेढ़ साल से वो पहले ही जिक्र पर था ला इलाहा इल्लल्लाह और कोई ऐसा टाइम ना निकल सका कि पाबंदी से लगातार कर सके जब वक्त मिला करता वो कर लेता जब मसरूफ हुआ तो कम कर दिया अब्दुल्ला के हाथ में उसकी पसंद की किताब लग जाए या लैपटॉप हाथ में आ जाए तो वो खाना खाना तक भूल जाता था अब्दुल्ला ने हमेशा की तरह इस बार भी बिल्लो से मशवरा करने का फैसला किया बिल्लो बिल्लो बिल्लो अब्दुल्ला दोहराता हुआ निचले फ्लोर की जानब लपका अब्दुल्ला खैरियत तो है आज बिल्लो की याद कैसे आ गई बिल्लो ने हंसते हुए फिफ्टी कसी बिल्लो यार तंग ना कर मैं परेशान हूँ मुफ्ती साहब से बात हुई वो कहते हैं जिक्र करो मेरे पास टाइम ही नहीं है वो कहते हैं लिखो अब बता मुझे कहाँ लिखना आता है मैं कंप्यूटर साइंस के अलावा लिखूं भी तो क्या लिखूं और क्यों लिखूं मुफ्ती साहब को तो शायद मुझसे उसने जन ही हो गया है लिखूंगा तो लोग जूते मारेंगे और रही सही इज्जत भी जाती रहेगी तू बता कोई हल है क्या बिल्लो कुछ देर को खामोश हो गई अब्दुल्ला को वैसे ही परेशानी थी इसने बिल्लो को जोर से चुटकी भर ली बस फिर क्या था पूरे घर में अब्दुल्ला आगे आगे और बिल्लो पेप्सी की खाली बोतल लिए पीछे पीछे दमे का मरीज अब्दुल्ला कितना भागता बिल्लो ने जल्द ही जा लिया खैर जब हंस हंस के दोनों का हाल बुरा हो गया तो बिल्लो ने कहा अब्दुल्ला बच्चों को देखा करो माँ इन्हें मारती है मगर वो माँ के पास ही जाते हैं कि वो ही बचा सकती है अल्लाह से डरते हो तो भागो मत इसी के पास जाके बैठो अल्लाह को अल्लाह से मांग लो जिक्र पर थोड़ी है कि कोने में बैठ के माला जीप ली हर सेकंड, हर वक्त अल्लाह सामने रहे जो भी करो नीयत इसको राजी करने की हो इसी की रजा आंखों के सामने हो वो मौजूद है इस बात का गुमान दिल में रहे वो देख रहा है इस बात का यकीन हो वो तुम्हें चाहता है इस बात को पुख्ता कर लो अब्दुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का जिक्र मिला है ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो उम्मीद का कारवान है इससे ना उम्मीद नहीं होते तुम बस ये करो तुम्हारी जात चलती फिरती जिक्र बन जाएगी जिसने तुमको देखा उसे भी जिक्र याद आ जाएगा जिसको छुओगे वो भी तुम्हारे जिक्र में शामिल हो जाएगा चलते फिरते जाकिर बन जाओ अब्दुल्ला इतना ना सोचा करो बस जितना हो सके वो कर लिया करो बिल्लो के अल्फाज अब्दुल्ला के दिल पर बिजली की तरह गिर रहे थे वो सोच रहा था इसने तो अपनी जिंदगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नजर कर दी और एक ये खलंडी बिल्लो है जो चलता फिरता जिक्र बनी घूम रही है बिल्लो ने बात जारी रखी देख अब्दुल्ला मुझे नहीं पता तुझे लिखना आता है कि नहीं मगर आदमी जिसकी माने सो पूरी माने मुफ्ती साहब ने कहा है कि लिख तो लिख ज्यादा ना सोच कागज कलम उठा और शुरू हो जा जिसने कहा है वो जाने और उसका रब कि क्या लिखवाना है किसके लिए और क्यों हो सकता है कि ये सब कुछ किसी के लिए भी ना हो कोई भी ना पढ़े ये सब कुछ सिर्फ तेरे ही लिए हो तू लिख तो अपना आप नजर आएगा आईने की तरह और मालूम हो कि अभी कितना दूर चलना है लिख ले अब्दुल्ला जिस खुदा के लिए लिखेगा वो तनहा नहीं छोड़ेगा बिल्लो हंसती मुस्कुराती उछलती कूदती चली गई मगर अब्दुल्ला की आंखों से जो बरसात लगी वो रुकी नहीं आज अब्दुल्ला की फिर से बोर्ड मीटिंग थी तमाम लोग कंपनी की प्रोग्रेस से मुतमिन थे बातों बातों में एक डॉक्टर ने जो खुद एक बड़ी मल्टीनेशनल में वाइस प्रेसिडेंट थी ने पूछा डॉक्टर अब्दुल्ला आपने जो वो दहशतगर्दों से बचाव के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था इसका क्या एक तो शायद रिस्क असेसमेंट में काम आता है और दूसरा प्रिडिक्शन में जी वो तो बस वैसे के वैसा ही पड़े हैं हमारे मुल्क में कोई लेता नहीं और यहाँ बेचने के लिए तो अमेरिकी शहरियत और टॉप सिक्योरिटी क्लियरनेस चाहिए होती है वो मेरे पास है नहीं मगर अब्दुल्ला तुम्हें पता है कि तुम कितनी इंसानी जाने बचा सकते हो इसे इस्तेमाल करके क्या तुमने कभी सोचा कि तुम इसको मुफ्त में अकवा मुतहदा को तोहफे में दे दो अब्दुल्ला ने कहा मगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मशीन चाहिए होती है ट्रेन स्टाफ सफर के अखराज रोजमर्रा की देखभाल हाँ भाई ये सब तो ऑप्शनल अखराज हैं ये तो अकवा मुतहदा देगी ही मैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं मगर सबसे पहले इसका इस्तेमाल मेरे मुल्क में हो ठीक है मैं बात करता हूँ एडवर्टाइजर ने जवाब दिया और मीटिंग खत्म अब्दुल्ला कंपनी के काम से न्यूयॉर्क जा रहा था हवाई जहाज में साथ बैठे मुसाफिर से बातचीत शुरू हुई मुसाफिर ने खुशी खुशी बताया कि वो एथिस्ट है यानी किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता अब्दुल्ला ने कहा कि वो अल्लाह पर बिल्कुल यकीन रखता है थोड़ी देर में इधर उधर की बातों के बाद मुसाफिर ने एक सवाल दागा क्या तुमने कभी अल्लाह को देखा है अब्दुल्ला ने लंबी सांस ली आंखें जाने कब नम हो गईं। इसने बड़ी ठाई आवाज में जवाब दिया नहीं अब तक नहीं मगर एक दिन आएगा जब मैं देखूंगा और तुम भी देखोगे फर्क सिर्फ इतना होगा कि मुझे मालूम होगा कि मेरा अल्लाह है जिसको मैं सारी जिंदगी याद करता रहा जिससे डरता रहा जिसकी रजा के लिए परेशान रहा जिसकी खुशी के लिए रोता रहा जिससे गुनाहों की माफी मांगता रहा जिसको खत लिखता रहा जिससे बातें करता रहा तुम बताओ तुम इस दिन क्या करोगे मुसाफिर ने हतुल इम्कान कोशिश की कि कोई जवाब बन पड़े मगर या तो वो शायद जवाब नहीं देना चाहता था या अब्दुल्ला के लहजे की गरज या तड़प थी कि इसकी जबान गूंगी हो गई और जहाज एयरपोर्ट पर लैंड कर गया अब्दुल्ला को न्यूयॉर्क कभी भी पसंद ना आया था भागती दौड़ती जिंदगी नफसा नफसी का आलम वॉल स्ट्रीट का शहर और फिर इसमें भूखे बेघर लोग अब्दुल्ला न्यूयॉर्क को हमेशा मुनाफकातान कहा करता और खूब हंसता अब्दुल्ला मीटिंग से फारिग हुआ तो खाने की सूची वो ढूंढता ढांढता एक अच्छे से मिडल ईस्टर्न होटल में दाखिल हुआ अब्दुल्ला ने काउंटर पर खड़े शख्स से पूछ लिया क्या खाना हलाल है ये सुनते ही वो गुस्सा हो गया कहने लगा अमेरिका में खुश आमदीद यहाँ हम इन चीजों की परवाह नहीं करते और इतना टाइम नहीं कि ऐसी बातों पर फोकस करें अब्दुल्ला को बड़ी बदमजगी हुई वो दल से बाहर आ गया कुछ दूर ही उसे सबवे नजर आया जहां सब्जियों का सैंडविच मिल जाता था अब्दुल्ला ने ही वहां जाने के लिए चलना शुरू किया सबवे के बाहर इसे चार काले अमेरिकी नजर आए जो लोगों से कुछ पैनी मांग रहे थे कि खाना खा सकें। अब्दुल्ला हमेशा कोशिश करता कि जिंदगी में जब कोई सख्त बात या वाकया पेश आ जाए तो वो फौरन कोई अच्छा काम कर ले वो कहता कि अमाल भी गेंद की तरह होते हैं बाउंस होकर वापस आते हैं इसने उन चारों से कहा कि आज मेरे मेहमान बन जाएं तो मुझे खुशी होगी चारों को लेकर रेस्टोरेंट में आ गया उन लोगों ने इसे बड़ी दुआएं दी होटल में मौजूद लोग अब्दुल्ला को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई किसी और दुनिया की मखलूक हो अब्दुल्ला का नजरिया था कि अल्लाह की जमीन पर अगर अच्छाई करो तो बुराई नहीं मिलती वो हमेशा नए शहर में कोई ना कोई नेकी जरूर करता वो कहता कि लो भाई इंश्योरेंस हो गई अब फिक्र नहीं पिछले वाकी की कदूरत दिल से साफ हो चुकी थी अब्दुल्ला ने सोचा कि एक आधा दिन रुक के न्यूयॉर्क घूम ले वो थोड़ा ही आगे चला होगा कि इसने पुलिस को एक अफ्रीकन अमेरिकी को रिगेलते हुए देखा वो उसे घसीटते हुए हथकड़ी लगाए गाड़ी की तरफ ले जा रहे थी और वो चीखते हुए कह रहा था today is third day I ate आज तीन दिन हो गए हैं मैंने खाना खाया था अब्दुल्ला को मालूम करने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इसने पास वाली बेकरी से कुछ चुराने की कोशिश की और बेकरी वाले ने पकड़कर पुलिस को कॉल कर दी अब्दुल्ला ने बड़ी मिन्नत समाजत की कि वो पैसे इससे ले लें मगर इस आदमी को छोड़ दे मगर बेकरी के मालिक ने चार्जेस ड्रॉप करने से माजरत कर ली कहने लगा चोरी चोरी होती है हर शख्स अपनी हालत और करतूतों का खुद जिम्मेदार है कानूनी तौर पर यह बात सही ही थी मगर अब्दुल्ला के दिल में इसका जुमला चुप सा गया today is third day I ate वो सोचने लगा कि हजरत उमर फारूक ने कहत में चोरी की सजा माफ कर दी थी ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि अफगानिस्तान और इराक में जंगों पर 10 ट्रिलियन डॉलर्स लगाने वाला अमेरिका एक इंतहाई मुख्तर आबादी को खाना नहीं खिला पाता सेलोकन वैली में दुनिया के कितने ही अरबपति हैं मगर वहां भी लोग बेघर और भूखे सोते हैं इसी अमेरिका में मैसा जैसी आबादकारियां भी हैं जहां रहने वालों के कोई हकूक नहीं अब्दुल्ला सोचता गलती कभी बाज नहीं होती इसके बच्चे जरूर होते हैं और अमेरिका इन्हीं बच्चों को आजकल भुगत रहा है अब्दुल्ला ज्यादा देर न्यूयॉर्क में ना रुक सका और वापसी के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गया पूरे रास्ते जवेद अख्तर की नज़म भूख उसके दिमाग में सनसनाती रही वो सोचने लगा कि भूख को एक मुकम्मल मजमून की सूरत में दुनिया में पढ़ाना चाहिए और उसे वक्त मिला तो वो इस मजमून पर ज़रूर लिखेगा